हम इनके पास इनकी आजमाइश के तौर पर ऊंटनी भेज रहे हैं इसलिए तुम उन्हें देखते रहो और सब्र से काम लो